परम पिता परमात्मा का स्मरण न्यायकारी परमात्मा प्रणव ओ और प्रेमी सज्जनों परमात्मा को विभिन्न शब्दों से संबोधित करते हुए उन भावों को अपने मन में बैठाने का परमात्मा को ठीक ढंग से समझने स्वीकारने का गहराई से परमात्मा को स्वीकारने का हम प्रयास करते हैं ईश्वर न्यायकारी है इस संबोधन पर हे न्यायकारिणी कुछ ध्यान हमने केंद्रित किया परमात्मा न्याय करता है अर्थात हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देता है अधिकांश धार्मिक ईश्वर को मानने वाले ईश्वर को न्यायकारी स्वीकारते हैं और उसके इस रूप को ही प्रमुखता से रखते हैं कि परमात्मा कर्मों के अनुसार फल देता है न्याय व्यवस्था का ये एक भाग है न्याय करना पुरस्कार या दंड का विधान करना सुधार का प्रयास करना न्याय व्यवस्था का एक दूसरा भाग भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जो न्याय किया गया उसका उपभोग किस तरह से हुआ लागू हुआ या नहीं एक न्यायाधीश न्याय कर देता है ये दोषी है ये निर्दोष है और कुछ दंड आदि का भी विधान कर देता है और ऐसा करके वो छोड़ दे लागू हुआ या नहीं हुआ इस पर ध्यान ना दे तो ये न्याय व्यवस्था का अधूरापन है हम क्या भोग कर रहे हैं कितनी सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं जो सुख सुविधाएं प्राप्त हुई उसका कैसा उपयोग कर रहे हैं उचित अनुचित और जितना हमें दंड मिलना था सुधार का अवसर मिलना था वो ठीक तरह से हमने लिया है या नहीं लिया है परमात्मा की न्याय व्यवस्था में ये भाग भी पूरी तरह ध्यान में रखा जाता है तो जब हम ईश्वर को न्यायकारी मानते हैं तो ये भी हमारे लिए सोचना आवश्यक होता है कि मेरे कर्माशय में कर्म कितने घट रहे हैं पुण्य या पाप ईश्वर न्यायकारी है इस बात को मन में रख करके एक और हम ये सोचते हैं कि मेरे कर्माशय में पुण्य बढ़े पाप ना बढ़े ऐसे मैं कर्म करूं क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है दूसरा पक्ष भी हमें इसी के साथ में उतनी ही मुख्यता से रखना होता है कि मेरे कर्माशय में पुण्य कितने कम हो रहे हैं अर्थात मैं कितना उपभोग कर रहा हूं और दंड का भी कितना उपभोग कर रहा हूं भोग कर रहा हूं भुगत रहा हूं न्याय व्यवस्था कर्माशय पर निर्भर है और कर्माशय दोनों तरह काम करता है एक उसका भरना पाप और पुण्य का जुड़ना उसमें और दूसरा पाप और पुण्य का वहां से कम होना कर्माशय हमारे धन के संग्रह के समान है बैंक में कितना धन है बैंक बैलेंस के समान है कितना हम कमा रहे हैं ये भी देखा जाएगा और कितना हम वहां से खर्च कर रहे हैं ये भी देखा जाएगा अब व्यक्ति धार्मिक जब ईश्वर को न्यायकारी स्वीकार कर लेता है तो परमात्मा के द्वारा दिए गए शुभ कर्मों के फल को तो वो अच्छे ढंग से लेता है प्रसन्नता से स्वीकार करता है लेकिन अपने पाप कर्मों के दंड को सुधार को प्रसन्नता से स्वीकार नहीं करता ईश्वर की न्यायकारिता को स्वीकार करने पर हमारे अंदर बहुत अधिक निश्चिंतता बहुत अधिक संतोष बहुत अधिक निर्भयता आती है आनी चाहिए लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा को न्यायकारी स्वीकारते हुए पुण्य कर्मों का फल मिलना तो स्वीकारते हैं तो उसमें वो आश्वस्त होते हैं लेकिन दंड के संदर्भ में अपने किए पाप के संदर्भ में परमात्मा की न्यायकारिता को स्मरण में ला करके वो निश्चिंतता या निर्भयता अनुभव नहीं करते अपने संदर्भ में ईश्वर दुष्कर्मों का दंड देता है दुष्टों को दंड देता है इस अर्थ में तो हम निर्भयता अनुभव करते हैं क्योंकि ये अन्यों के संदर्भ में होती है परमात्मा दुष्टों को दंड देता है जो दुष्ट है उनको बुरे कर्म के अनुसार फल देता है ये धार्मिक व्यक्ति स्वीकार करता है विचारता है और इससे बहुत बड़ी निर्भयता आती है निश्चिंतता आती है लेकिन किनके संदर्भ में अन्यों के संदर्भ में अपने ऊपर जब वो लागू करता है कि परमात्मा मेरे कर्मों का बुरे कर्मों का फल देगा तो वो निर्भयता अनुभव नहीं करता वो भय को अनुभव करता है दुख को अनुभव करता है आशंका अनुभव करता है इसलिए अच्छे अच्छे धार्मिक ये कहते हुए मिलेंगे पता नहीं अगले जन्म में क्या होगा अगला जन्म क्या मिलेगा मैंने पिछले जीवन में पिछले वर्षों में बहुत पाप किए बहुत गलत कर्म किए मेरा पता नहीं क्या होगा एक दुख का भाव भय का भाव पैदा होता है और इस भय के भाव को पैदा करने में धार्मिकों के उपदेश भी कारण है क्योंकि लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए ये उपदेश व्यापक रूप से दिए जाते हैं अच्छे कर्म करोगे तो सुख मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो दुख मिलेगा अपनी जगह ठीक है बुरे कर्म से दुख मिलता है और ये सुख और दुख की व्यवस्था परमात्मा करता है क्योंकि वो न्यायकारी है वो दंड अवश्य देगा उससे हमें बहुत कष्ट होगा हम परमात्मा के दंड से नहीं बच सकते ये सारे वाक्य तो ठीक हैं लेकिन इन वाक्यों के साथ में एक डर और भय जुड़ा हुआ है वक्ता भी उनको डराना चाहता है और श्रोता भी उससे डरते हैं और ये डर इतना गहरा बैठा हुआ होता है कि जिस ईश्वर को न्यायकारी समझने पर निर्भयता आनी चाहिए वो निर्भयता उनकी समाप्त हो जाती है ईश्वर को न्यायकारी समझते हुए भी वो डर रहे होते हैं भविष्य के किसी जन्म को लेकर के अपने पापों को लेकर के परमात्मा को ठीक ढंग से स्वीकारने पर भय तो आना ही नहीं चाहिए निर्भयता तो उसका प्रतिफल है तो दोष कहां पर हो जाता है न्यायकारी मानते हुए भी भय आ रहा है ईश्वर की न्यायकारिता को ठीक तरह से स्वीकार न कर पाने के कारण जो व्यक्ति ईश्वर को दयालुता के साथ में न्यायकारी मानता है ईश्वर दयालु भी उतना ही है ईश्वर मित्र भी उतना ही है पिता और माता भी है और वो मेरा सदा हित करता है जो व्यक्ति ईश्वर की दंड व्यवस्था से दुखी रहते हैं वो भी एक तरफ ईश्वर को माता पिता के समान समझते हैं दयालु समझते हैं लेकिन जब दंड व्यवस्था की बात आती है तो फिर भयभीत होने लगते हैं ये एक अंतर विरोध है हम जिस बात को मानते हैं स्वीकारते हैं स्वीकार चुके हैं प्रमाणों से सिद्ध होने पर मान चुके हैं उसको सब जगह पर लागू नहीं कर पाते एक जगह पर लागू करेंगे दंड व्यवस्था पर परमात्मा की दया परमात्मा की कृपा नहीं लागू कर पाते और दुखी होते रहते हैं और फिर साधना के अंदर व्यग्रता आ जाती है साधना में बाधा पैदा होती है वो डरता भी रहता है और करता भी रहता है ये डर उसको धर्म कार्यों पे पुण्य कार्यों पे केंद्रित करता है उधर बढ़ता है वो बुरे कामों से बचता भी है भविष्य के पाप कर्मों से बचने के लिए ठीक है उतने अंश में लेकिन जो पाप कर्म पीछे कर लिए हैं उसका डर मस्तिष्क पर बहुत प्रबल रहता है और चूंकि वो उसे दुख समझता है दुख का मतलब उसमें अपनी हानि समझता है उस दंड में और परमात्मा तो दंड अवश्य देगा यदि कुछ नहीं किया तो तो ये डर ही फिर उसको विभिन्न छोटे मार्गों को अपनाने के लिए विवश कर देता है और संसार को ईश्वर के बारे में बताने वाले भी इस तरह के उपायों को उनके सामने रखते हैं ऐसे उपाय जिससे पाप कर्म का फल न मिले इस जगह की यात्रा कीजिए इस जगह पर स्नान कीजिए ऐसा ऐसा करिए आपके पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे वो भी ईश्वर को न्यायकारी मान रहे हैं हमने जो पाप कर्म किए हैं उसका फल मिलेगा मिलता है ये मान करके वो इन उपायों को करते हैं यदि वो नास्तिक के समान ये मान लें कि पाप कर्मों का फल नहीं मिलता है कोई फल देने वाला नहीं है तो ऐसा व्यक्ति तो अपने किए पाप कर्म से चिंतित नहीं होगा उसको आवश्यकता ही नहीं है फल तो मिलता ही नहीं है पुनर्जन्म तो होगा ही नहीं परमात्मा तो है ही नहीं जो कि दंड देता है वो अपनी तरह से अज्ञानता में संतुष्ट रहेगा जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों को समाप्त करने का लघु उपायों से प्रयत्न कर रहा है जो कि उपाय नहीं है वास्तव में विभिन्न पूजा पाठ आदि से अनुष्ठानों से वो इतना तो मान रहा है कि मैंने बुरे कर्म किए हैं और बुरे कर्मों का फल मिलता है और वो उसे टालने का प्रयास कर रहा है कैसे ये कर्म फल मुझे न मिले और धर्म का जो आज जिस रूप में प्रचलित हो गया है उसका एक बड़ा व्यापार इसी पर केंद्रित है और इसके पीछे ये भावना अंदर जुड़ी है कि पाप कर्म का जो फल मिलेगा वो दुख होगा और उससे मुझे हानि होगी उससे मेरा अहित होगा इसके मूल में यह छुपा हुआ है और जो इन सरल उपायों को या वास्तव में कहें तो वो कोई उपाय ही नहीं है भ्रांति में कुछ उपायों को नहीं अपनाते हैं समझते हैं कि ये गलत उपाय है ऐसे मानने वाले भी जब ये मानते हैं कि दुख मिलेगा तो उनकी साधना में उनके व्यवहार में कुछ अलग चीजें आ जाती हैं और वो परमात्मा की स्तुति उपासना पर अधिक केंद्रित हो जाते हैं उसके शब्दों के उच्चारण पर उसके स्मरण पर जैसे उसी से मेरा हित हो जाएगा और सुबह शाम ध्यान उपासना करते हुए भी शास्त्रों को पढ़ते हुए भी व्यवहार में न्यायकारिता को नहीं ला पाते जब व्यक्ति ये विश्वास कर ले कि परमात्मा के द्वारा दिया गया दंड भी जिसमें मुझे दुख होगा लेकिन वो मेरे हित के लिए है उससे मेरी हानि कभी नहीं होगी अब वो जिस निश्चिंतता पर पहुंचता है वो दूसरा ईश्वर विश्वासी कभी नहीं पहुंच सकता उसे पता है मैंने बुरे कर्म यदि किए हैं अथवा ये ये बुरे कर्म किए हैं और इनका जो भी फल है चाहे मच्छर बनू चाहे मछली बनू चाहे सुअर बनू वृक्ष बनो कुछ भी बनो और वहां जो भी भोग होगा वो मेरे ऊपर परमात्मा की अत्यंत कृपा है उसे इस बात का संतोष रहता है कि परमात्मा पाप कर्मों का फल देगा उसमें अन्याय नहीं होगा अधिक दुख नहीं देगा जितना है उतना ही देगा प्रगति के अवसर जब तक मेरे से भिन्न रहेंगे मेरे से पृथक रखे जाएंगे वो निश्चित काल तक ही रखेगा उसके बाद जैसे ही पाप और पुण्य बराबर होंगे फिर मनुष्य जन्म मिलेगा कितने लोग सब कुछ समझते हुए भी ये बोलते देखे जाते हैं जब उनको को अगला जन्म पता नहीं क्या मिलेगा ठीक है पता नहीं लेकिन डरने की क्या बात है जैसे कर्म है वैसे मिल जाएगा और उनसे कहो कि आप तो बहुत साधक हैं धार्मिक व्यक्ति हैं तो डरने की क्या बात है अन्य इतर योनियों में भी आपको तो जाने को नहीं होगा तो बोले हां ठीक है वो मानते हैं कि अगला जन्म मनुष्य होगा लेकिन पता नहीं किसके यहां पर जन्म मिल जाए अब ये ईश्वर के प्रति अविश्वास ईश्वर को ठीक ढंग से न समझना चलता रहे पता नहीं कहां जन्म मिलेगा क्यों डर रहे हैं इसके लिए जब हमारे पुण्य कर्म हैं तो अच्छे परिवार में ही मिलेगा कहां गया ईश्वर का विश्वास इस वाक्य को बोलते हुए पता नहीं वैदिक धर्म के संपर्क में फिर आऊं या नहीं आऊं क्यों नहीं आएंगे यदि आज आप वैदिक धर्म के संपर्क में हैं हृदय से इसको स्वीकारते हैं उसके अनुसार चल रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आगे वैदिक धर्म के संपर्क में आप ना आए ऐसे माता पिता ना मिले बचपन से ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन डर रहता है और यदि किसी कारण से किसी भी परिवार में जन्म मिला है तो कर्मों के अनुसार मिला है कहीं धन कम होगा स्वास्थ्य कम होगा कोई बात नहीं लेकिन जो हमने कर्म करते हुए संस्कार बनाए हैं वो संस्कार तो वहां फिर भी पहुंचेंगे और जहां भी जन्म मिला है हम अपने उन संस्कारों के आधार पर फिर इसी रास्ते पर चल पड़ेंगे पता नहीं कैसे लोगों के बीच में मैं जन्म लूंगा फिर वो बुरे होंगे तो मैं भी बुरा बन जाऊंगा संपन्न घर में जन्म ले लिया लेकिन मध्य मांस आदि प्रचलन में है तो मैं भी वैसा ही बन जाऊंगा अगर किसी कारण से वहां जन्म मिल भी गया तो परमात्मा की इस व्यवस्था को क्यों नहीं हम स्वीकार करते कि जैसा हमने किया है और जैसे विचार किए हैं जैसा संस्कार है वो हमारे साथ में है कितने भी दुष्ट लोगों के बीच में हमारा जन्म हो हमारे संस्कार तो अंदर वैसे के पवित्र हैं तो हैं और हम उस बुरी स्थिति में भी ठीक निकल जाएंगे और बुरे ही हमारे पे प्रभाव डालेंगे ये दुर्बलता का भाव क्यों अपने मन में हीनता का भाव क्यों अपने मन में हम अपने अच्छे संस्कारों से उनको प्रभावित कर देंगे और वो अपने अत्यंत दुष्ट संस्कारों के कारण यदि प्रभावित नहीं भी होते हैं तो उनसे तो हम प्रभावित नहीं होंगे ये क्यों नहीं विश्वास होता क्योंकि व्यवहार करते हुए हम पद पद पर ये देखते रहते हैं कि दूसरों से मैं प्रभावित हो रहा हूं और लोक में देखते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले भी दुखी होते हैं वेद को मानने वालों की भी प्रगति नहीं होती है अपने को और औरों को धार्मिक मानते हुए भी देखते हैं इनकी प्रगति नहीं हो रही है और जिन्हें हम अधार्मिक मानते हैं विधर्मी मानते हैं उनकी प्रगति हो रही है ईश्वर को मानते हुए ईश्वर की न्यायकारिता को मानते हुए एक स्तर तक ये बात संसार को देखते देखते इतनी घर कर जाती है कि हमें लगता है कि पता नहीं अच्छे कर्म होते हुए भी हमारे साथ क्या होगा ये परोक्ष रूप से हमारे पर इतना अधिक प्रभाव है ये भौतिकवाद का प्रभाव है ये कर्मफल व्यवस्था को ईश्वर की न्यायकारिता को ठीक तरह न समझने का दुष्प्रभाव है हम भले ही कहते रहे कि नास्तिक है और अधार्मिक है और दुर्गति को प्राप्त होंगे लेकिन हमारी आंखें देख रही हैं कि ये तो उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं और वो विचार हमारे अंदर बैठ रहे हैं हम सुन रहे हैं कि ये दुष्ट और अधार्मिक नास्तिक प्रगति को प्राप्त कर रहे हैं और वो विचार अंदर घुस रहा है हम कितना भी अपने को समझाते रहें बोलते रहें लेकिन अंदर ये बैठा नहीं इनकी प्रगति हो रही है भौतिक प्रगति और आंतरिक प्रगति भी देखेंगे तो जिन्हें हम धार्मिक ईश्वर विश्वासी ईश्वर को ठीक मानने वाला समझते हैं उनमें भी अशांति देखते हैं उनमें परस्पर प्रेम नहीं देखते उनमें संगठन नहीं देखते और जिन्हें हम अधार्मिक नास्तिक समझते हैं उनमें प्रेम और संगठन हमें दिखाई देता है और ये प्रत्यक्ष कभी हम झुटला नहीं पाते अंतर गया है तो एक तरफ हम मानते हैं कर्मों के अनुसार मिलता है दूसरी तरफ कुछ और देख रहे हैं तो इस प्रत्यक्ष का प्रभाव हमारे मन पे इतना हो जाता है कि हम कितने भी अच्छे कर्म करें पता नहीं हमारा क्या होगा जैसे आज हम अपने को अच्छा समझ रहे हैं और हमारी दुर्गति है तो आगे भी क्यों नहीं हो सकती है अगले जन्म में भी क्यों नहीं हो सकती है वो ईश्वर का विश्वास कर ही नहीं सकता व्यवहार में ये व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति ईश्वर को न्यायकारी बोलते एक सीमा तक मानते हुए भी जब ये मान लेता है कि जो भी हमें मिल रहा है वो हमारे कर्मों के अनुसार है जिसके पास जो भी है वो उसके कर्मों के अनुसार है ईश्वरीय व्यवस्था से है यदि कर्म के अनुसार ना हो पुण्य नहीं है तो भी उसके पास अधिक धन हो तो ईश्वर न्यायकारी नहीं रहेगा इसलिए जो भी हमारे पास में अच्छा है धन है संपत्ति यश संगठन वो सब हमारे कर्मों के अनुसार है पुण्यों के कारण है ये एक बहुत व्यापक मान्यता धार्मिकों में आस्तिकों में ईश्वर को न्यायकारी मानने वालों में बैठी हुई है जबकि ईश्वर ने हमें कर्म करने में स्वतंत्र कर रखा है व्यक्ति गलत कर्म करते हुए भी धन पद यश प्राप्त कर सकता है करता है धर्म और अधर्म दोनों कर्म हो सकते हैं इस बात पर पूरा विश्वास हमें नहीं होता आज कोई व्यक्ति अधिक संपन्न है पद प्रतिष्ठा के साथ में है तो उसका यह मतलब नहीं है कि उसके पुण्य ही थे जन्म से अगर इतना है तो ठीक है वो कर्म के अनुसार वहां आया है लेकिन कर्म करते हुए यदि वो छल कपट के साथ में संपन्न या पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है प्रतिष्ठित हो जाता है तो ये उसके पुण्य कर्मों का फल नहीं है जब ये विचार हमारे मन में होगा तो हम किसी व्यक्ति की संपन्नता भौतिक वैभव को देख करके उसको उसके पुण्य के साथ में तत्काल नहीं जोड़ देंगे यदि हमें जोड़ना है तो हम उस ढंग से जोड़ेंगे कि हां इसने ईमानदारी से काम किया है बिना छल कपट के कमाया है पुरुषार्थ से कमाया है ये उचित है हमें कुछ भी मिला हुआ है उसका हमारे पिछले कर्म के अनुसार ही सब कुछ निर्धारण हो ऐसा नहीं ये तो हम नए कर्म कर रहे हैं अभी पिछले कर्मों के अनुसार जो मिलता है ठीक है वो भी है लेकिन वर्तमान की संपन्नता या विपन्नता हमारे नए कर्मों के कारण है धार्मिक ईमानदार व्यक्ति भी निर्धन हो सकता है उसके साथ अन्याय हो बहुत निर्धन हो सकता है तो ये एक बिंदु इतना महत्वपूर्ण है कि यदि ये हमने व्यवहार में अपने मन में नहीं बनाया हम हर संपन्न को देखते ही कि बड़ा भाग्यशाली है बड़ा भाग्यशाली है और चूंकि संपन्न अधिक दान देते हैं तो उनको बड़ा पुण्यात्मा है ये मान करके चलते और एक अति निर्धन इसका भाग्य अच्छा नहीं है और चूंकि वो हमारे को अधिक सहयोग नहीं दे सकता है आर्थिक धार्मिक कार्यों में तो हम उसको उतना मान नहीं दे पाते हम सोचते हैं इसके कर्म ही अच्छे नहीं है ये इस तरह का सोचते हुए हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं मन में विचार में अयथा योग्य व्यवहार कर रहे होते मन में विचार में और लौकिक व्यवहार में भी वो आ जाता है और इस विचार का इस गलत विचार का दुष्प्रभाव हमारे पे इतना रहता है कि हम ईश्वर को न्यायकारी मानते हुए भी निर्भय नहीं हो पाते क्योंकि ये अव्यवस्थाएं जो हम देख रहे हैं ऊपर से भले ही इसको पुण्यात्मा और किसी को दुष्ट कह रहे हैं लेकिन अंदर से तो ये हमें पता है कि ये गलत कार्य कर रहा है और उसका संबंध हम संपन्नता के साथ में जोड़ते हैं कि गलत काम करे तो भी संपन्नता हो सकती है यश हो सकता है और ये व्यक्ति की साधना को अंदर से समाप्त कर देगा ऊपर से जो भी होता रहे जो भी करता रहे समाज कुछ भी कहता रहे अंदर से वो उस निर्भयता को प्राप्त नहीं हो सकता जो ईश्वर को ठीक ढंग से न्यायकारी समझ करके हो सकता है तो ईश्वर की न्यायकारिता को स्वीकार करना केवल स्थूल रूप से देखने से नहीं होता उसके लिए बहुत सूक्ष्मता से एक एक चीज देखनी होती है उसके लिए शास्त्रों को वचनों को देखना होता है उनकी संगति को बैठा के वो स्वीकार करना होता है ईश्वर के अन्य समस्त गुणों के साथ में उसकी न्यायकारिता को देखना होता है तो ईश्वर को हम न्यायकारी समझें न्यायकारी भाव से लें ऐसा भाव मन में बनाएं ओम का उच्चारण ओ